ਸੋਨੇ ਲਪੇਟਿਆ ਬੋਲ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬਾਜਣੀ ਨੇ ਵਰੀ ਸੋਨੇ ਲਪੇਟਿਆ ਬੋਲ ਅਣਿਆਲਾ ਨੇ ਵਾਰ ਮਾਦਣਾ ਸੋਨਾਰਾ ਨਰ ਅਣੀ ਅਣਿਆਲਾ ਨੇ ਵਾਰ ਮਾਦਣਾ ਸੋਨਾਰਾ ਪੇਲਾਨ ਪਾ ਕਰ ਬਣਗੀ ਅਰੇ ਮਤ ਸੋਵਨੀ ਬੋਦੇ ਬਣੋ ਨੇ ਅਸਵਾਰ ਪਾ ਕਰ ਬਣਗੀ ਅਸਾਰਬ ਸੋਵਨੀ मोजे भणो ले अशवार मारे लड़ घूंघट घोड़ा जी पणिया बोल बनो अशवार मारे लड़ घूंघट घोड़ा पणिया कसर कटोरा घुड़ रही है डेरा फिरे नगी आत्मान के कारण जी मरदा के राजे वो रण जे सात सगत रे मरदा कार ओदी मरदा केरा तो बाधे वो रण जी तबेशा बाता अमर वादा याद या रे मरदा कारण तो कटोरा गुड़रे डेरा फिर दौड़ता नखीब नखीब आत्महानी ने कारण है एक गहरा बाद है रणजीत रणजीत अब रणजीत नंगारा मज डंको लगो तो स्वाई बोल कहीं आप पागड़े पग देवे और रेम शेर ने रानी जी लेवा जो सड़ जावे और कहीं रानी लेवा सड़ जावे देखा तमाला लाडलो करिया गेरा सूरमा मुंगा घिर तमालाय जय सड़गा कंवर बागरा सारो शेर जे माय मारे सड़गा कंवर बागरा सारो शेर जे माय રે મંડવે પગદી નો તે પાગડે ઘડી ઘડી રો દાતા લાડલો પગદી નો તે પાગડે ઘડી ઘડી રો દાતા થર થર દુધિયો માતા દરે તરી ઘરણાયો હસમાન તર તર દુધિયો માતા દરે તરી એ કરણાયો હસમાન કોરાનું ધરતી પોટગી थर हारियो आसमान रे पोड़ा सु धरती पोटगी हर हरियो आसमान अलगा सगे माता त्रे त्रिया दरिया सूरमा और मूंगाई गिरित मोलाय मोलाय ओ सडगो बाग रो सूरो पद सारो शहर जिमाय जिमाय बाग दियो पागड़े पद लाका लुमारो दाता दाता थर थर दूजी माता धरती घरनायो होया आसमान आसमान थोड़ा सु धरती फूट गई थर हरियो आसमान सड मत वाला निकलया पद चकवई दर समा समान तो रेन शेरा मार्गा कई घोड़ा हकाय देवे और कई मोरा की मेपला जावे सड़ती असवारी कहीं मोरा की मेबला अमलारा का अकल कारण जी मरदा नेड़ियो दी सेणो गडेरान वेसा वाता अम्मारा वाता पाल मरदा कारण जी मरदा दी न करे मरदा कारण भला गोपियां का श्याम भला अमलारो को आकरार इदका रालो डाण डाण एक पोर पलक रे काने नेड़ी जी से पड़िया राखी राण राण वहीं बाटी गाटिया में सवारी हजार मोरा ही महफला हाँ, जावे देखा तो अमल अरो गोमंदे पियो अमल करो पर भात कर देना कंवर बागरा मंद गड़न तेरा तर कर देना कंवर गणन तेरा तुम्हारे खड़गा फंवर पागरा स्याई कणा साप तुम्हारे सड़गा कुंवर पागरा स्याई कणा साप तमोरा बटे कुंवर पागरा कर दे रे तमोरा बटे ओ सिला ना तरा पीली कर दे रे तर गाजा में घोड़ा नीचिया सपर सिम क्या शर गाजा में ओ घोड़ा नीचिया सपर सिम क्या शेल सड़का सोई सारे झूम के कौरी कंगर बाके सड़का सोई सारे झूम के कंगरे कंगर बाके घोड़ा सलो साल ऊँटा बड़ी दिन थोरो कर दूर घूड़ा सालो साल उतावली दिन थोरो कर दूर अमला सकिया कुंवर बागरा नशा में बरपार अमला सकिया कुंवर बागरा नशा में बरपोर मारे सकिया अमला शोरवा पियो और अमल करो प्रभात प्रभात माजे खड़िया सूरवा पदमांजल घड़ती रात घोड़ा श्रृंगारा सूरवा स्याही घना सफेद डाला डाला मोरा उछाले सूरवो पीड़ी कर दी रेत गाचा में घोड़ा एशिया थापर चिमकिया शेल सडगा चोइस भाया ने झूम के कमर कंवर वकेल किरचा को झूम को जू आप बगड़ावता ने सवारी वही गोड़ा सालो सालो उतावली दिन थोड़ो घर दूर अमला में थकिया सुरवा है नशा में भरपूर गाड़ी घाटे में सवारी आई रही आप तुहानी रेन शेर में आप रंग मेला में है आप सोन पालने इंडिया इंडिया और नौ पतरा पड़ा ला भान के काना में वाद गई और पालना में कर उठिया इरा इरा इरा बिसु खाई खाएगा में अरे छोरी बिसु खाओ ठाली बूली ने स्वाई बोदरी नौ पतर बाजी है बाजरी बाडी घाटी में सवारी आ रही है कहीं मैंने बधाई देवो तो कहीं हीरावानी के रंग मेला में आप बाता रिजर्व है morning. था मार्ग जाय माने बोझ बताई देनिया मता लाख बदाए वाय माने बोझ बताई देनिया मता लाख बदाए वाय मेला सडो मणि गरीर जी गरा दिवला जाय मेला सडोरे मारा हीर जी दीपक जाय दासी का कर भला बड़े किया सही मत वाला लाल जी का घेर भला बड़े किया सही मत वाला वाय मेला सढ़रे मारा हीर जी नैणाई उडावो नींद मेला सड़ दे को मारा हीर जी अरे निणगी उड़ावो नींद आवे बदनोर का मार्गा माँ सुंदर नींद आवे बदनोर का मार्गा माँ मतवाली रा बींद आवे बदनोर का मार्गा કરડો ઈરજી બેઠા માર્ગ જોય જોય રોજ બતાઈ દે આવતા તો તને લાખાની બધાઈ હોય હોય વેલા છડો ઈરજી ગેરા ગેરા દીવલા જોય જોય કાંકડ બાલા બળકિયાર સહી મતવાળા હોય હોય વેલા છડો ઈરજી નેણાની ઉડાવો નીંદ હવે બદનોર કા માર્ગાર માં સુંદર કા બીંદ બીંદ આ સ્વાઈ બોજ આવે જકમ પાદનમ જિદ બેઠી વહી હું એને મને બોજ કી બધાઈ દેવું वाह इस महारानी साहब हीरा दासी ने किया तो हीरा में झोला खाई रही है हाथ तो जोड़ हीरा दे दासी कहीं जवाब आप महारानी ने देवे देवे है जी देखा मंदवो दर बधनो रे जिलेरियो गेरा तो दीपक जोय मंदवो दर बधनो रे जिलेरियो गेरा देवला जोय भाई तो रंग मथने मिला करे ए मदवाला कोय नीठा दूर दूर पिंजरवाय भाई जी ए मतवाला कोय नी वो ये भाई साए मतवाला कोई निया कुरवला गला वेगा कहीं ओ भाई जिथे बावला क्यों दूर दूर पिंजर होय होय सोई बद नोर में झिलरिया गहरा दीपक जोय जोय रंग माने मिसला करे था दूर दूर पिंजर क्यों होय कौन तो आवे कौन जावे जब जाओ आपने हिंडा देऊ हूं आई जी ओ आई जी मने आप तक ठी दिस कोई नहीं ए स्वाद हेरा दे दासी किया कोनी आप खण छडेर खण उतरे तो महारानी साहब दासी हेरा देने फासो कहीं जवाब देवे है जी जगह डुमेरिया आग न की बाय दासी डूंगर वेगी डुमेरिया आग नकी बाबा बाय मिमता रे मीता गरी देता मारग जोय मिमता बूझे रे मीता गरी बेथा मारग जोय दासी लंबा सड़का से लड़ा अमड़ा रे उसके तार दासी लंबा सड़का से लड़ा और अमड़ा रे उसके तार जीलंत आवे रेण में कटारा शिरदार रे जीलंत आवे रेण में तारा सिरदार दासी लमा का से लड़ा और लंबी तार दिशा कर लमा का से लड़ा लंबी तार दिशा कर जीलन ताया वेरेण में अमेराव खीशा कर दासी लमा सड़ंका से लड़ा अमेराव खीशा कर जीलन ताया पावना किया डूंगर वेगी डमरिया और हाक नकी मां होय होय निमताबू जे मितागरी बेता तो मार्ग होय कहीं बैठी बैठी तू ओड़ा देवे है बदनोर सामो दे कीर्तियां को तुम को जू आई रिया है लंबा से लड़ा अरे अमड़ा उसके टार टार सट चोबा ना देख ले छोरी है कठारा है सिरदार है सिरदार है लांबा तड़ाना से लड़ार लांबी ताड़ जिशा जिशा ए जिलंता आवे है में ईर्दी है अमरा वे किशा किशा तकन निंद तो करो करो ये सवाल मां दुर्गा भवानी किया है तो हीरा तो आप जो हाथ जोड़ कहीं फास जवाब देवे हां मांगनी भाई जी साहब आपने हिंडा देवा राबे जो क्यों आका जाका करो मैंने तो आवता बगड़ा उद्देश्य को ये नहीं ਹਟਕਿਆ ਲਾਗਾਰ ਐ ਸੋਲੀ ਕਣੀ ਐ ਰਕਮ ਮੇਲ ਮੈਂ ਮਾਈਨ ਅਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਛੋਰੇ ਗੇਲੇ ਬੇ ਤੋਰੀਓ ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ਾ わらばいこいにじおじやとれべとりまいじざまいじまらたらそがねとまわらばいこい हटकिया लागो रे सोली गणी थानो राखू मेला में मान मान ए मतवाला नहीं है कोई बह सिरदारा की जान कोई या तो सिरदारा की जान मोटे ठिकाने पड़नी बा जावे आप जानो जगह तो को नहीं है रे छोरी हवो नहीं गवो नहीं जान सिद्ध जावे था गणी बाई जी साने थाल री रहो नेड़ो आई गो आ तो मोटे ठिकाने को सिरदारा की जान है पर नहीं बा जावे आप जानो तो का कोई है नहीं है ए सवाल इरा दे दासी किया तो आज वहानी खण सडेर खण उतरे तो मां दुर्गा वहानी आप कहीं दासी इरा ने फासो जवाब देवे है तो खण पिड़गी मैं सुनी सुंगाड़ा बेवर गोड़ पिड़गी मैं सुनी सिंगाड़ा देव आती अवे फौज में हींड तो महादेव रे से देव आती अवे फौज में हींड तो मत महादेव रे से फौजा में जा परे हरे सिंगा निशान हाँ, रे फौज में जा परे हरे सिंगा निशान ले भणिया कंवर बागरा मान ले मन आया खिलनाथ सकवे दर खान सोरी शरणी बोले कोई जा बोले छिड़े से कोर बाग में शरणी बोले कोई जा बोले छिड़ी थी कोर गोटड़ा टकर पावन सोरी मीठा बोले मोर रे गोटड़ा टकर पावन રતડારીઓ પંદડા વાદણી પાયણ બાળકે બાસર રતડારીએ પંદડા વાદણી પાયણ બાળકે પાંચ મોઢે પર્વત મોર્યા બોલિયા દરિયા મારે બોલે હાથ મોઢે ડુંગર મોર્યા બોલિયા ગુદડે બોલે હાથ મોઢે પર્વત મોર્યા બોલિયા पिड़की मैं सुनी हो ईर जी सुनो घोड़ा ना बेब बेब आते आवे फौज में तो मत है महादेव जी की सेव फौजा में नेजा पर हरे पिसरंगा है निशान लेवन आया बाघ जी का शुरुआत चकवे धरे समान सरली बोले बाघ में कोई लिया बोले सीढ़ी सिकोर को टाणा ठाकर आएगा पावनार मीठा बोले मोर रत्ना री पनड़िया बाजनी बाहन बलक है बांस मोडे पर्वत मोजा बोलिया दरियावा बोले पावा सरका हांस हौसला कर रिया मोर पपया रिया बागा में कोयले टबका दे रही है जरूर जरूर मत वाला आएगा ईरान तू जो को के कुण आवर कुण जावे ईरान दे हाथ जोड़ बोली खा मांगनी ओ भाई जी साहब मोजा कहीं रा बोले है आपने जात कोई नहीं है तो हाथ जोड़ ईरान दे कहीं फासो जवाब देवे है देखा दियोलरिया बिरकारा बोले कारा धुरौ में इंदरा दा दियोलरिया बोले मोर रानी उभा वादा मेल में दिनेणारा डोर रानी उभा वादा मेल में दिनेणारा डोर रे गम खाटुआ फाटे गागरो दिखाना रो રૂવો ભાટે ગાગરો એ બોમ દિખાણા રાતીર સપને દેખો સવાઈ ગોદને તારે સગોડી નાનંદા રાતીર સપને દેખો ભીંબળાઈ ગોદને સગી નણંદરા વીર સપને દેખે મંદવા બોદને सवाल किया सरली बोले भाई जी कोई ना बोले चिड़ी चिकोर चिकोर तुरव कुंड में इंदिरा दादी और बिरकारा बोले मोर तुरव कुंड में छोटी सी बादली निकली है और मैं वहाँ घर छोड़िया है तो बिरकारा मोरिया बोले है पालना में बेटा पड़ जाओ तो हाँ तो थाना मोरिया बोल जाएगा મને તો બગડાવતા આવતા દી શકો નહીં ગમકા શું ભાટે ભગાવરો ભોમ દીકણ કો સીર સપના મે દેગો મંદવા ભોજ ને થારે સગી નણંદરાઈ વીર નવ તેરી નંગરી મોટો શહેર હે પાંચ પચીસ કોઈ ઘોડાણો આજાવે तो જજગર પાલના બેઠા વેજાવો હીરા એ હીરા પકડો આઈ ગયા यूं कोई मार्ग में बैठा है वाह वाह कौन तो आवे और कौन है जावे है जब जो आपने हिंडा देऊ हूं ए सवाल दास हीरा किया या वहानी खण छडेर खण उतरे छोरी बधाई दे कोई नहीं तो फिर आ दिया वहानी जो दास हीरा ने कई सवाल है कह दी देखा बसे बदनोर में पड़ी मैल मैं खाड़ पड़ जावा बेरे बाबड़ी मारूं અમલ બિસખાય રે પડ જમલા બેરી बावડી અર મારું અમલ બિસખાય ને તન બૂજું મારા હીરજી એ પંવાર પોઝ બતાયમે તન બૂજું મારા હીરજી એ પંવાર પોઝ બતાય સોરી મે રંગ મે લસુ ગુડે પડા પર યાર ફુંદી ખાય દાસી રંગ ભેલસુ ગુડે પડા पर अर फूंदी खाए अर मैं दिने दसारी पावणी पर तो मंदारा महाय अट में दिने दसारी जी पावनी पास मंदारा माय अट में दिने दसारी पावणी आपने सवाल किया ओड़ो मत दे उबांग मरोड़ मरोड़ जीव बसे बोझ में अटपड़ी मेल में खोड़ पट जाऊं बेरे बावड़ी और मरूं अमल बिस खाय मैं तन पूछूं मारा ईर्दी भंवर बोझ में बताए नहीं है तू कदे आएगा तुम जीव सोरो विजब है वानी खण सडेर खण उतरे रंग मैल सू गुड़ पड़ू और परार फूंदी खाय खाय अट दिन दशारी पावनी बास तो मारो मंदा या खेमाय माय तो हीरा दासी ऊंग में झोला खाय रही है और सामने देखे कोई नहीं हाथ मुआनी देखो सॉरी बधाई दे कोई नहीं मीठा मतवाड़ा की सवारी और शेर दाखल विजय तो कीन लोभ लाल દેવા તો લોબરી મારી જરૂર આપણને બધાઈ દેહી તો ખાઈ મહારાણી સાદ હીરાને પરસણ વેર સ્વાદ કેવે હે દેખા हले महीर जी पायाला पन्ना धार टोटी बिंदली हले महीर जी पायाला पन्ना धार पिंचा ले ले पगन दी बाजणा ले सगळो शिणगार पिंचा ले ले पगन बाजणा ले सारो शिणगार माने दे बताई गोदरी ए बावळे रो સસવાર માને દેખ બતાઈ દેની બોધને પંગળી રો સવાર માને પ્યારા બતાઈ દે આમતા પંગળી રો સવાર મને દે દે બતાઈ બોધરિયા ਗੇਂਦ ਗਲਾ ਰੋ ਹਾਰ ਹਾਰ ਟੋਟੀ ਬਿੰਦਲੀ ਲੈ ਈਰਦੀ ਲੈ ਲੈ ਸਾਰੋ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿਨਚਾ ਲੈ ਲੈ ਪਗਾਨਾ ਬਾਦਣਾ ਲੈ ਲੈ ਸਾਰੋ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਦੇ ਬਦਾਈ ਬਹੋਦਰੀ ਆਵੇ ਆਵੇ ਦਣ ਬੰਗਲੀ ਕੋ ਅਸ਼ਵਾਰ ਕਾੜ ਨੋ ਲਾਗ ਰੋ ਹਾਰ ਹੀਰਾਂ ਗਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾਈ ਦਿਓ ਹੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸਣ ਵੇਗੀ ਪਾਈ ਦੀ ਸਾਹ ਬੋਬਰੇ ਦਾਲੀ ਦਰ ਕਮਾਈ ਗਮਾਈ ਦਿਆ લે દુર્બીણી રંગ વેદરા ગોક્રમ થા સડ્યા કઈ માત દુર્ગા ભવાની ને આપ સ્વાઈ બોધરી બધાઈ દેવે હે દેખા ਵਿੱਚ ਭੰਵਰ ਕਾਲਿਆਰ ਕੋ ਦੇਸਿਆ ਜੀਰੋ ਨੋਲ ਕੋ ਤੇਜ ਭੰਵਰ ਕਾਲਿਆਰ ਗੋੜੀ ਨਖਰਾੜੀ ਨਾਚਈ ਗਣੀ ਉਹ ਦੋਜੀ ਬਣਾਇਆ ਅਸਵਾਰ ਗੋੜੀ ਨਖਰਾੜੀ ਨਾਚਈ ਗਣੀ ਤੇ ਬੋਧ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਰ ਗੋਰਾ ਬਾਜੇ ਕੂ ਕਰਾ ਬੌਲੀ ਰਾਠਮ ਕੇ ਪੋੜ ਰੇ ਗੋੜਾ ਰਾ ਬਾਜੇ ਗੋ लेवान आया कुंवर बागरा सिर सो नारा मोड़ लेवान आया कुंवर बागरा सिर सो नारा मोड़ लेवान आया छात्री सांडा कदे नहीं देखे हुए तो आज तो देख देख काना तुंगल मंदवा भोज रे कोया राती रेक उदे नहीं आ रो घोड़ो नौल को और तेजा जीरो कलियार कलियार घोड़ी नकरियाली नाचे गणी પછી ભોજ ભણ્યા સવાર सवार ઘોડાના બાજે કુગરાર બાવળી ગોડીરા ઠમકે ओड़ એ લેવણ આયા સુરવા અને સિર સોના કા है मोड़ मोड़ अभी मोचा का मोड़ हल्लाट रड़ाट कर दिया जरूर भाई जी भाई जी मतवाला तो आएगा आएगा अरे छोरी तू तू कहती नहीं कुण आवर कुण जावे तने नौ लाख रो हार दियो जरा तू बधाई दीवी है नहीं तो तू बधाई देती कोई नहीं को भाई जी छह महीना ब्याह था ने बगड़ावता ने खातर जरूरता ने मैं तो देखियो भाई जी ओ भाई जी हदियाल भाई झूठ झूठ बोले खा मांगनी भाई जी साहब आज तो साथ साथ काटियो सुने दास जाली जरू का फसवार कर दे जो सवाई बोल रही सवारी मन दर्शन है वे जावे ਖੋਲ ਪੜਦਾ ਕਰੋ ਰੇ ਮੇਲਾ ਪਾਗਤੀ ਮੇਲਾਰੀ ਜੜਪਾ ਖੋਲ ਨੈਣਾ ਨਿਰਕੂ ਮੰਡਵਾ ਬੋਦਨੇ ਆ ਪਟਕੂ ਗੜਾ ਖੋਲ ਨੈਣਾ ਨਿਰਕੂ ਸਵਾਇਆ ਬੋਦਨੇ கால ஆதமாரியாளியா ஓரடே ஆரா பாட்ட ஆதமாரே மிந்தர்மாளியா ஓரடே ஆரா பாட்ட மாற போது பதாய பாவன கணிரே நாள தே பாட்ட மாறே போது பதாய தீ பாவன கணே நாள தே பாட்ட ராணே ஓ பாபா lame lame deve gung कटरी ओट रानी उबावा दल मेल में देखूंगा गटरे आटे आपा सला छवाए गोदरे लागी शब्दारी चोट आपा सला भीमड़ा बोदरे अरे लागी शब्दारी चोट दासी शब्द पिसाया पर तरी अरे शला तो सदिया काज दासी शब्द पिसाया है बारे तरी शला सदिया काज नासी एक शब्द रे कारण तजो बंगाला रो राज दासी एक शब्द रे कारण सजो बंगाला रो राज छोजो ए आबू गडरो बेसणो किया शब्दरी लार छोजो वे आबू गडरो बेसणो या पर्दा करो मैदाना पाग तीर मैलानी जड़पा खोल नैना निरकु भोजने पटकू खोल आज मारा हसे मिंदर मालिया ओरड़िया ना पाठ पाठ भोज जाएगा पावना में घनी नाड़ती बाट बाट रानी उबा बादल महल में देवे घूंघटरी ओट साला स्वाई भोजरे एक लागी मारे शब्दां की सोट शब्द पिसाण्या गोपी चंद्र राजा भरतरी सलाई सदिया काज एक शब्द रे कारण वे तजियो बंगाला को राज छोड़ियो आबू गुड को वैष्णो छोरी वे गया शब्दरी लार सब चीज ऐसी वे वे गोपी चंद्र भरतरी रे लागी तो राजपाट छोड़ और फकीरीदार लीवी जो मारे एक शब्दरी लागी है भगवान रे मारे वचन भी आया सो वचन रे कारण बगड़ाओ तने आपा साल को दासी ऐसा पावना पारा तारा आवेला अरे कई मनवार करूं कई मिजमानी करावा हाँ मांगनी भाई जी साहब आप सजाओ जी मिजमानी कराओ करावो तो कहीं आप मिजमानी करे कहीं सवाल कह रहे थे